जीवन के नाम से प्रख्यात होता है ऐसे जीवन जो जीव की से शुरुआत करता है मानव चेतना में संक्रमित की जरूरत पड़ गई अभी तक मानव जाति जीव चेतना में जिया जीव उनसे अच्छा जीने के लिए दावा किया और अच्छाई के बारे में प्रमाण प्रस्तुत किया आहार आवास अलंकार गोरक्षण श्रवण दूर गमन दूर दर्शन गमन भी वस्तुओं को भक्त इससे बोलते से हम अच्छा ले रहा हूँ इसका प्रमाण करता हूँ यहाँ तक तो मानव जाति आ गई अब मानव का एक परिभाषा हमको मिल गई कल ये सूचना दिए थे वो है मना को साकार करने वाला मना को प्रमाणित करने वाला मानव मना को साकार करने में तो हम सफल हो गए मना को प्रमाणित करने में कवाड़ा कारखाने कवाड़ा कारखाने मैंने हम कहीं भी नहीं विधिया हजारों प्रकार से है यज्ञ सिद्धांत से तप से योग से अभ्यास से समाधि से सब कुछ प्रयत्न करके थक रहे हैं क्षत विक्षत हो चुके हैं किंतु मन मनस्वता को प्रमाणित करने में सर्वथा सफल रहे हैं ये ये मूल मुद्दे की बात है जिससे कि मैं ये काम करता हूँ वो मनस्वता कैसे अपने को उपलब्ध हो वक्त पर अध्ययन करना समझना अपने ही पर अपने अपने पलपुते के ऊपर ही रहेगा ये हम कहने मात्र मतलब से आप समझ गए ऐसा नहीं है आपको एक सूचना के रूप में ही अभी होगा अध्ययन करने के अलग से प्रस्ताव है उसके लिए जीवन विद्या मध्यम दर्शन शास्त्र शास्त्र के अध्ययन की व्यवस्था दी है वो यहाँ इस इस आश्रम में भी प्रस्तुत है और वे कुछ आश्रमों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये आपके लिए छोटी सी उसके बाद आता है हम ये आपको बताना चाहते हैं ये पूरा का पूरा मानव लक्षित जीवन मानव परंपरा में जो दो प्रकार की लक्ष्य पाया जाता है जीवन का लक्ष्य है वो भी प्रमाणित होना है मानव लक्ष्य है वो भी उसमें वही ये पाया धीरे हम समझा कि ठीक के प्रमाणित करके देखा मानव लक्ष्य पूरा होता है तो जीवन लक्ष्य पूरा जीवन लक्ष्य यदि पूरा होता है मानव लक्ष्य पूरा होना चाहिए ऐसा मेरा सोच यद्यपि जीवन लक्ष्य पूरा होने मात्र से मानव लक्ष्य पूरा होता है ये भी हमको में आते मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन लक्ष्य पूरा यह भी अभी शुरुआत कहां से करें पहला बात आई दोनों का अध्ययन एक साथ जीवन लक्ष्य मानव लक्ष्य दो सुख कैसे होते हैं उपाय पा वो कैसा होता है समाधान से समस्या से छोटी सी बात तो समाधान कैसा मिलेगा पता बोले सहस्त्र को समझने से जीवन को समझने से मानवीयता पूर्ण आचरण को समझने से समाप्त इसके आधार पर हम इस ज्ञान के आधार पर हम उसे बहुत समझते हैं विचार करते हैं योजना बनाते हैं कल्पना अनुसार फलस्वरूप अपने ज्ञान के अनुभव को तय करते इसका नाम है समाधान समाधान क्या चीज है जो ज्ञान से विवेक विवेक से विज्ञान विज्ञान से सोच विचार सोच विचार से योजना योजना से कार्य व्यवहार से फल परिणाम फल परिणाम यदि ज्ञान के अनुरूप हुआ अनुकूल हुआ समाधान ज्ञान के प्रतिकूल हुआ तो समस्या हरिहर ये यह हरिहर वाला जगह ये मैंने हरिहर का मतलब यह और कुछ नहीं समझा जाए स्थिति गति का नाम हर का मतलब है स्थिति हरि का मतलब है हर कभी कब करता हूं हमको अभ्यास हो गया है आदत हो गई है कभी कभी हम कर सकता करने पर उसका आपकी यही लगाएगा तो विगत के अनुसार नहीं लगाएगा सर्राश नहीं अर्थ को नहीं ये प्रार्थना ये हुआ हमारा सहस्त्र में होना मानव का मानव नक्ष का निर्धारित करने की आवश्यकता क्योंकि पहले भी आपको एक सूचना प्रस्तुत किया था मानव ज्ञानावस्था के ज्ञानावस्था में होना मैं नहीं परीक्षा ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में होना परीक्षा विगत में मैंने आदर्शवाद जीवन है भौतिकवाद जीवन है मानव को जीव जीविका मैंने ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में पहचान मानव ज्ञानावस्था में होकर के ज्ञान क्या है वो भी पहचानी है ज्ञान नहीं होता संज्ञा देता में संवेदना नहीं होती मानव अभी तक शब्द स्पर्श रूप स्कंदेन्द्र रूप को तृप्ति देने के लिए सकल कर्म कर सकल सकल मैंने लोगों को विधि माने उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं तो अब क्या किया जाए उसमें पता लगा कि संज्ञा देता पूर्वक समय नहीं ये एक आशय ये समाज में सोचने में जाता है संदेश में जाता है हर व्यक्ति संयम रहना चाहते हैं मूल में हर बच्चे से लेकर बुरे व्यक्ति होने तक अध्ययन करें कहीं ना कहीं संयमता की अपेक्षा करें तो अभी तक संयमता का निश्चित विधि निश्चित प्रक्रिया निश्चित पहचान निश्चित मूल्यांकन उसका संबंध अभी तक हम पाए तभी उसको पाना जरूरी है नहीं तो समाज का संपूर्ण रचना इसी के ऊपर निर्भर किया रहेगा ये क्या चीज है जो संवेदनाएं नियंत्रित करना संवेदनाएं अनियंत्रित करना तो मूल में आपाल वृद्धों को अध्ययन करने से जितना हम सर्वेक्षण कर पाए उसके आधार पर हमको ये पता लगा है हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं संयमता की अपेक्षा करना भले वो विकरण हरा हिस्सा में क्यों नहीं मैंने इसको हम बहुत प्रख्यात डाकुओं से का लूटकारों से लें लूटखोरों से लें तो मैंने सभी प्रकार के कुकर्मों को करने वालों के साथ में हमने संभाषण किया है उसके अंतिम निष्कर्ष हम ये निकाल ये सबको सज्जनों में तो फंसा ही है सज्जनों में तो ये रही ही है स्वतः इनका क्या चर्चा है हमारा शास्त्रों में लिखा है ये सारे बात रखा इस तरह से संयमना चाहिए ये बात को सबको स्वीकार होता है मेरे अनुसार कभी ऐसा या नहीं स्वीकार होता हो वो रहे तो कैसा स्वीकार किया जाए उसके बारे में अनुरोध करूंगा मैं ठीक है ये बात इस तरह से हम सबके साथ जुड़ने की हमारा रास्ता बनाए ये सब बताने का मतलब और कोई नहीं है ये कोई बहुत बड़ी बड़ी हैप्पी की भी बात नहीं है या आमदा की भी बात नहीं है हमारा तो लोग रास्ता की बात है इस तरह से हम रास्ता बना लिया सबके साथ पहुंच गया उसके बाद हम आगे बात करना ये चाहते हैं यदि हम संयम संयमता को पहचानते हैं समझते हैं जीते हैं पारंगत होते हैं इस पर बात करते हैं तब हम अखंड समाज सर्वभौम व्यवस्था को सोचने योग्य उसके पहले एक भी आदमी नहीं सोचेगा अखंड समाज सार्वभौमता ये गारंटी बात है हम लिख के दे सकता हूं हम सत्यापित कर ठीक है कोई भी आदमी संवेदनाओं को नियंत्रित किए बिना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र व्याख्या को सोच नहीं पाएगा कोई भी आदमी सत्य एक भी नहीं ठीक है यदि ये बात यदि गले से उतरता है इसमें हमको पारंगत होने की इच्छा तो बन इस बात भी तो स्तर में पारंगत होने की इच्छा तो बन ये सब पुराण कथा बताने का ही नहीं है इसमें और कोई अर्थ नहीं है स्तर में पारंगत होने की इच्छा भगवती हो इसी कामना से इस प्रकार से हम उन्हें प्रस्तुत ये यदि प्रस्तुति आपको उन्होंने स्वागत होता है स्वीकार होता है उसके आगे की बात यह है अखंड समाज का क्या मतलब? अखंड समाज का मतलब यह है इसमें हम सर्वे किया देखा हम समझा सभी मानव ने मानवत्व नाम को वो सोया उसको वो पूरा रहा उसको तो समझा मैं समझ तीन काम तीन काम में हमको लगा कौन लगेगा इसको जो पार करते संज्ञा करते समेत मैंने लिए तो अखंड समाज सर्वम सकल उपयोग काकू पा चुके हैं उसको प्रमाणित करने के क्रम में ये सब है उससे कम में कम काम में ये होने वाला है हम बहुत सोचे हैं समझे हैं योग वेदी से अभ्यास वेदी से प्रदेश वेदी से बहुत कुछ आशय का तो व्यक्ति हुआ है किंतु जब वो प्रमाण में आना परंपरा में होना और जीना ये जगह आए हैं वो आने की आवश्यकता है कैसे आवश्यकता आ गई जाए उसके लिए एक ही उत्तर है धरती जिंदा और रही है धरती के साथ क्या कई को भी माना गया मानव का अपराध से बीमार गया मानव अपराध प्रवृत्ति से मुक्त होना है इसीलिए अखंड समाज सार्वभौम सूत्र में के है और कोई आशय यदि मानव सोचता है कि हमको जिसका शिक्षा करना नहीं है जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी और करें जल्दी हो जाए इसमें भी हम आशीष कर सकते ठीक है हमारा अपेक्षा यही है मानव इस पर चिंता रहे जागरूक से रहे अखंड समाज को प्रबंध सड़कों व्यवस्था में जीवन इस आवश्यकता में जो संतों कुछ पूछा जो संयोग से मेरे ही संस्कार से मैं वैदिक विचार के चिंतन को देखा समझा और उसमें जीने के लिए प्रश्न किया उसमें बहुत सारे प्रश्न तैयार उसमें मूल प्रश्न ये लिखा हुआ है हमारे किताबों में कि परमेश्वर से एक जगत पैदा लिखा हुआ है ब्रह्म से आकाश पैदा होगा आकाश से वायु पैदा होगा वायु से ये सब देखा ये और उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से ही पैदा ब्रह्म का परछाई माए पर पड़ने पर जीव तो प्रत्याशन भी जीव तो तो ऐसे दोनों ब्रह्म से पैदा हुआ अंत में शक्ति आया ब्रह्म शक्ति जगह ये हमने पढ़ा है हमारे किताबों में पढ़ा है किताबों में लिखा हुआ है और भी पढ़ना ये पढ़ने की बात हमारा कोई बड़ी आंदोलन हुई ये सभी से क्या फायदा हो सकता है क्या हो सकता है हम इसके ऊपर दंगलबाजी करने लगे हमारा परिवार श्रेष्ठ खत्म वैदिक परिवार के सम्मान प्राप्त किया हो अब काफी परेशान हो हम भी परेशान हो நிற்படவில்லை புஷ்பாயி யோக சோ அன்னபதர்ப நம் उदाहरण जीवित थे उन्होंने उनसे पूछा गया उनसे उन्होंने एक बताया कि समाधि में इसका उत्कर्षण किताबों में लिखा भी है समाधि में अज्ञान क्या उसके आधार पर हम समाधि तक पहुंचने के लिए अपना मानव बनाना वैसे परिस्थिति बनाने हम उसमें सफल भी सफल होने के बाद पता चला क्या सब उसमें कोई है नहीं आता है समझ में होता है क्या कुछ है हमारे आशा विचार जाए तो इसको मैंने हम जीवित रूप में मैं प्रस्तुत हूँ मैं देखा हूँ मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ता हूँ तो हमारे आशा विचार इच्छाएं चुप होने के बारे में यदि ज्ञान का रहा हो तो हम कुछ नहीं और उसको ज्ञान उसके बाद इसको कैसा कहा जाए हमको समाधि हुआ इसके लिए हम संयम संयम करने पर ये पूरा अस्तित्व अध्ययन करने में आया अध्ययन करने में आने पर साहसिक रूप में अर्थित होना समझा समझने के बाद पता चला कि मानव स्वयं को समझ में आया है मानव को लक्ष्य ऐसा सोच करके आप लोगों तक हम पहुंचे और वही कारण संसार से हमको कोई चीज की जरूरत कोई भी एक कौड़ी की जगह हम अपने में संतुष्ट हो हमारा हमारा पुरुषार्थ से वस्तु से संतुष्ट हो हमारा ज्ञान से परमार्थ से संतुष्ट दोनों का मैं हमारा लाभ हमारा पुरुषार्थ परमार्थ दोनों का लाभ है हमारा कोई विशेष नहीं मेरे पास हमको अभी तक पूछना निराशा प्रताड़न ऐसा कोई चीज हमको यात्रा नहीं देगा कभी दुर्घटना को देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं पूरी चीज को हम ऐसा ऐसा मैंने यंत्रणा से पीड़ित होने की कोई स्थिति को हमने अनुभव नहीं ये हमारा जन्मजात या परिवार का महिमा से या गुणजन्म महापुरुषों का कृपा से या बुजुर्गों के आशीर्वाद से ऐसे कुछ घटनाएं उसको ऐसा ही नहीं करूंगा तो अब जो है ना जो हम है उसको हम वितरित करने के पक्ष में तो मानव के मानवता क्षमता के तो देखें तो इसको तो <laughs> मानव कैसा स्वीकार करेगा यदि स्वीकार करता है इस धरती पर मानव जाति रह सकता है यदि स्वीकार नहीं होगा इससे अच्छे कोई चीज को अनुसंधान करना पड़ेगा या नहीं तो इसको सामने पड़ेगा दो में से इससे अच्छे देश को अनुसंधान करते हैं ठीक है इससे तो अच्छे ही होगी इससे अच्छे बुरे तो कोई मानेगा नहीं कम से कम इतने को तो समझ सकते हैं समझाने योग्य हमने किया उसमें कमियां हमारे पास ये थी हम कोई भी जीवन जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ अभी नहीं स्कूली शिक्षा हम हमारे पास कुछ भी नहीं ठीक है वो कुछ भी न रहते हुए उसके आधार पर मैंने आपके समूह रखा ये ये बात तो अखंड समाज का मतलब है मानवत्व नाम की चीज जागृति रूप में प्रमाणित वो क्या चीज है समझदारी संज्ञानीयता संपन्न संवेदनशीलता से मानव व्यवस्था में ये आकर उत्पन्न है संज्ञा नेता क्या है बताया उसको बताया आपको अभी इसके पहले भी दो बार बताया हम इस प्रकार यही है कि अखंड साधक ने सहस्त्र अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानविक का पूर्ण कर्म ज्ञान होने से हम संज्ञा नेता संपन्न होते हैं उसके आधार पर विवेक होता है जिसमें शरीर का नश्वर जीवन का हमारा और व्यवहार के नियम हमको समझ में आता है उसके बाद विज्ञान के पास जाते हैं मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करने के अर्थ में विज्ञान को पहचानने पर यह आया तो कालवादी क्रियावादी निर्णयवादी ज्ञान संपन्न होने की आवश्यकता है तो जीवन लक्ष्य जो है शांति संतोष आनंद है इसके लिए दिशा निर्धारित करना आवश्यक है ठीक है और मानव लक्ष्य है समाधान समृद्धि या वैस कोई नदी के लिए प्रकट है उसका उत्तर अध्ययन अध्ययन के बारे में मैंने अनुभव किया है जो शब्दों को हम जानते हैं आप सब जानते हैं यहाँ जितने बैठे हैं नहीं बैठे हैं सबको शब्द का ज्ञान उन शब्द का कोई अर्थ जैसा मिसाल तौर पर ये पानी एक शब्द पानी एक वस्तु पानी शब्द में नहीं है शब्द तो वही पानी है पानी एक वस्तु ही है आदिकाल से भी है अभी भी है आगे भी है हवा एक वस्तु हवा एक शब्द नहीं ठीक है इसी प्रकार इसी प्रकार से हर वस्तु कि किसी व्यक्ति का नाम दिया वो वस्तु नाम शब्द वस्तु नहीं है जैसा मेरा नाम उसको नाकार करता है नारायण शब्द में शब्द तो मैं नहीं मैं अपने स्वरूप में ही मानव के स्वरूप में हम मेरा स्थिति है गति तो हमको हमारा नाम से कारण से हम मानताओं उनको संबोधित करें इसलिए संबोधन के लिए नाम इसी प्रकार हर वस्तु का संबोधन के लिए नाम है जितने भी हम कागज का बुलंदा बनाए हैं वह सबका सब एक नाम है एक शब्द है उसके अर्थ में हमको जाने का ही हम समझदार ये अध्ययन का मतलब ये वो शब्द के अर्थ को समझा माने रखे शब्द को सुना शब्द को उच्चारण किया ये कोई विद्वान नहीं इतनी बात क्योंकि ये हमारा परिवार का वैभव के आधार पर मैं हमने इसको पढ़ा तो मैंने लाखों चर्चाओं को मुखद करते हुए देखा उच्चारण करते हुए देखा किंतु गोलीबार बात ऊपर उठ नहीं पाए थे इसको हम अच्छी तरह से परख के आए ठीक है और उनसे कोई चीज ज्ञान उदय नहीं हुआ संसार को ज्ञान दे नहीं इसके इस, इसका आधार पहले संकट से उभरने के लिए तो हम साधना ही किए साधना करने पर यही सब तो ये निकलते हैं तो हम हमारा अकेले की बपौती नहीं है ये तो मानव का बपौती है इस आधार पर हम आपके पास आए ठीक ये तो बात हो गई अध्ययन का मतलब क्या हुआ कुल मिला के तो शब्द से इंगित जो अर्थ होते हैं वो वो अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है वो वस्तु समझ में आने से हम अध्ययन किया यदि शब्द को उच्चारण किया हम अध्ययन नहीं किए पठन किए उसका क्या नाम होगा पठन किया हम अध्ययन नहीं ये बात है सब उसके बाद आता है अभ्यास अभ्यास किस बात की मैं जो वस्तु को पहचान दिया उसका उपयोग संयोग महिमा इसको समझ करके उसका संरक्षण भी करना है उसका उपयोग भी करना है उसको उससे हम संतुष्टि भी बना हर वस्तु से संतुष्टि पानी से संतुष्टि पाना है आवश्यकता के अंदर अनाज से संतृप्ति पाना है गाड़ी घोड़ा से संतृप्ति पाना है सबसे संतृप्ति पाना है इसमें जो है किंतु गाड़ी हमने कोई गाड़ी का नाम लिया है नाम से गाड़ी नहीं है गाड़ी का नाम है नाम गाड़ी नहीं है और गाड़ी का नाम मनुष्य मनुष्य का नाम नाम नाम से नाम में मनुष्य समाया नहीं है मन नाम मनुष्य का है इस, इस प्रकार से एक ईश्वर यही है वो ईश्वर का नाम हम उच्चारण करते हैं ईश्वर ईश्वर क्या है इसको हमको पहचानना ही पड़ेगा सत्य क्या है सत्य एक शब्द है सत्य क्या है इसको पहचानना ही पड़ेगा धर्म क्या है इसको पहचानना ही पड़ेगा नियम क्या है पहचानना ही पड़ेगा नियंत्रण क्या है पहचानना ही पड़ेगा इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं इसको पहचानने पर हम उसके अनुसार सम्मान करना बनता है फलस्वरूप हम जीना बनता है हम तो ऐसे वस्तु को पहचान देना है सत्य के नाम से जो वस्तु है उस वस्तु को पहचान देना है सत्य का सम्मान करना हमसे होगा नहीं उसी से भी नहीं होगा केवल शब्द से सत्य का सम्मान होगा और करने वालों का सम्मान हो गया हम स्वयं साक्षी हो हम लोग मैं हम लोग समझे नहीं होते वैसे भाषण कर भाषण देकर के सम्मान करने में हम एक एक्सपर्ट आदमी में से लाखों आदमियों से सम्मान पाने का रहता आज भी रहता है सम्मान करना हम उद्देश्य सार्थक हमारा उद्देश्य शिफ्ट क्या हुई केवल इतने ही पहले सम्मान पाने के उद्देश्य है आज जो है ना हमारा सार्थक होना उद्देश्य कि ही बस कोई बहुत दूर हम खसके नहीं है शायद थोड़े ही दूर में बहुत संसार के बदलाव हो गए तो सार्थकता के साथ यदि हम हमारा आशय बनता है हम उपकार कर रहे यदि हम ये मानते हम केवल यशपाने के लिए होते हम सब तो बहुत सारा संपदा को इकट्ठा कर सकते किंतु ऐसा कोई चीज कोई चीज हमारे मन में आता ही कभी ठीक है तो दृष्टि से हम अपने को ये तय करना होगा कितने भाग को हम मैंने समझे नहीं उसमें हम परेशान जितने भाग समझ गए उसमें परेशान इसीलिए हुए मूल बात समझ में नहीं आया बाकी बात ऊपरी बात समझ में आया इसको हम ठीक से सदुपयोग करना बना नहीं प्रयोजनशील बनाना बना नहीं उपयोगिता समझ में नहीं आया उपभोग में आ गए हैं और उपभोग में आ गए अतिभोग में आ गए इसके लिए क्या जरूरत पड़ गई सुविधा संग्रह अवश्यम अभी हम उसमें सारे बात सारा प्रयास खत्म अब प्रयास हो नहीं होने के लिए है हम यह बात को मैंने ठोस विधि से करना चाहता हूं हर मनुष्य सत्य के लिए प्यासा है वो प्यास को नहीं व्यवस्था हमारे पास है और उसके लिए ज्ञान है विवेक है विज्ञान है इसको अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं वो माता हमारे पास है हमारे हमसे जुड़े हुए जितने भी अध्ययन किए हैं उन सभी के पास है वो तरह से हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं इस पर यदि विश्वास कर सकते हैं हम सभी को समझना हो पहली बात पहले बात सत्य कैसा होता है पूछे तो सत्य जो हमारा सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म हमारे आदर्शवादियों हमने लिखा है सत्य भी ज्ञान ब्रह्म ईश्वर सब कुछ उसके बाद ब्रह्म सत्य जगह में क्या करेंगे जबकि सत्य सही सत्य पैदा हो चिंता था पर हम जो अनुसंधान ये पता चला तो और व्यापक वस्तु नाम की चीज है यह हम देखा है उनको कल दिया बताए थे आप हमारे देश में दूरी के रूप में जो दिखती है यही व्यापक है हर पर सबका रहता है इसको अच्छी तरह से ये स्वीकार करते हैं इसी में हम डूबे हुए गिरे हुए समय में आते हैं उसके बाद बिगे हुए बात समय में आता है दूसरे चीज से और ये व्यापक तत्व सभी वर्गों में पाना पत्थर में वर्षा में मनुष्य में वनस्पति में सभी सभी जगह में पारगामी है ये ही समझ में आता है हम हाँ, और ये उसके बाद हम ईश्वर सर्वत्र है इसको हम पहचान इस व्यापक और संपूर्ण ईश्वर सकते यदि इच्छा हो यदि इच्छा रहे हम नहीं दीजिए हम अपने नाम से दिया हो सबका मूल सबका ही मूल ऊर्जा ही तो सभी जड़ प्रकृति में जो है ना ऊर्जा संपन्नता है वो चुनकी बल के रूप में प्रमाणित मानव में बल ऊर्जा बनता है वो ज्ञान के रूप में प्रमुख जीव में आशा के रूप में प्रमुख और वनस्पतियों में स्त्री के रूप में प्रमुख ये धर्म में रखा सब जगह है तो इसको हमको अच्छी तरह से अनुभव किया हो इसके आधार पर मनुष्य अपने ज्ञान पर विश्व विश्वास करने के लिए सत्य को पहचानना सत्य क्या हुआ साहस को परम व्यापक वस्तु में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति है ये जड़ चैतन्य प्रकृति की क्रिया करता है क्या करता है भौतिक क्रिया करता है रासायनिक क्रिया करता है जीव क्रिया तीन एक प्रजाति की इन तीन प्रजाति की क्रिया से चार अवस्थाएं बनी चार अवस्थाएं प्रकट एक पदार्थ अवस्था नाम दिया है प्राणावस्था वनस्पतियों का नाम दिया है जीव अवस्था मैंने क्षेत्र जीवों को दिया है ज्ञान अवस्था में मानव इन चार अवस्था में प्रकट इन चार अवस्था में से मानव समझने वाला जीव नहीं समझता जीव वंश के अनुसार व्यवस्था है बीज बीज के अनुसार मनस्थ ज्ञान परंपरा के रूप में और सभी पदार्थ परिणाम के अनुसार प्रकट इसके अंदर अड़वस्व अपने स्वास्थ्य साहित्य व्यवस्था में मानव भी मानवत्व साहित्य व्यवस्था में ये दूर होता है ये दूर पाने के लिए इतना सब बात प्राणायाम करना होता है क्योंकि मानव जन्म जन्मतः कर्म स्वतंत्र कल्पनाशील इन कर्म स्वतंत्र कल्पनाशीलता की तृप्ति के लिए तो दौड़ता है दौड़ते दौड़ते दर्शन करके बैठ जाते हैं ठीक है इसके आधार पर हम थके नहीं परंपराएं इसको जीवित रखें ऐसा जीवित रखने के अर्थ में हम अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं सत्य को समझ सकते हैं सत्य को हम साहित्य के रूप में पहचानते हैं पहचाना हो और आप पहचान सकते ठीक है सरस्तित्व में वाले विचार में ज्ञान है हम पारंगत हो सकते हैं और प्रिय तो पारंगत हम जिया हूं आप भी हो सकते ऐसा मेरा नहीं इसके बाद आती है सत्य को समझने के मुद्दे में हम भी कंप्यूटर सूचना सोचना अभी तो सूचना ही है अध्ययन तो आप हमको तो सबको करना ही हमने अध्ययन किया हो आपको भी अध्ययन ही करना दूसरा कोई रास्ता नहीं अध्ययन का मतलब मैं बताया तो शब्द के अर्थ में अर्थ को अस्तित्व में वस्तु के रूप में पहचान ये अध्ययन यदि जितना हम पहचाने है उसका अध्ययन हुआ अध्ययन के बाद उपयोगिता सदुपयोगिता प्रयोजनशीलता की बात है यदि सत्य समझ में नहीं आवे सत्य में सत्य से संबंध सारा वस्तु सत्य से मुक्त कोई वस्तु है ही नहीं जैसे हमारा आदर्शवाद जो है सत्य जो है अलगे है जगत अलगे है ऐसा कहने के लिए कोशिश किया उसी में हम हमारा पेट्रोल हम जो बुद्धि तो अभी कोई भी इनको समझा नहीं कर पाता है ना सब प्रमाणित नहीं कर पाता हाँ कहा कहने मात्र से प्रभावित होता वो जगह पे हम पहले एक आस्था नाम की मानती थी इन सब कार्यक्रमों को सुन करके वो भी जगत को हमने किया है आस्थाएं होती थी अब होता क्या अच्छा होता है उसके बाद उस पर जो प्रश्न करना होता इसको कैसा प्रमाण किया जाए इसको कैसा समझा जाए यह सभ्यता से ही दूसरा असभ्यता से क्या होता है यह सबको बसपास है पर सर्वप्रथम रोटी पानी मकान से यहाँ यहाँ पहुंचा वाले हम बनी को तो बहुत सारे सुना ये सब तो सुनकर क्या आया ठीक है आज की स्थिति में बात स्थापित होना है प्रमाण ही स्थापित होता प्रमाण के लिए आप हमको कहना कहना अपने सौजन्यता को हम मानते हैं अपने में सौजन्यता है उसको कहना कहीं इन्वेस्ट करना प्रयोग करना पड़ेगा उसके पहले प्रमाण के लिए अपनी सौजन्यता जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार ठीक है इसके आधार पर मैं निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि सती को पहले सब सारा से हो सकता सहस्तित्व को समझने पर क्या समझ में आता है सहस्तित्व में अस्तित्व दर्शन अस्तित्व कैसा है क्यों है ये समझ में कैसा है इसका स्वरूप पता है क्यों है कुछ प्रकट होने प्रकट होने इसको ठीक है अभी पहले क्या किया ब्रह्म से प्रकट हम क्या कह रहे हैं ब्रह्म में सब प्रकट अभी ज्यादा दूर नहीं है व्याकरण विधि से मैं और सैकी का है और पहले जो तो क्या कह रहे हैं ब्रह्म से सब प्रकट करता है हम क्या कह रहे हैं ब्रह्म में सब प्रकट इतना मैं कैसे आ गए व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु संपर्क संपर्कता का मतलब है युवा है पिता है पीला इन तीनों होने से संपर्क इसका परिभाषा किया और इसमें एक देश का मैं अपने बुद्धि से किया हूं वो है तो भाषा परंपरा परिभाषा है जैसा एक धर्म है क्षण उसके लिए हमारे पूर्वजों ने व्याख्या दिया धारे के साथ धारणा का जब व्याख्या है तब ये बना इसको पहना जा सकता है घोड़ा जा सकता है उतारा जा सकता है ऐसा है गीता करके आखिर में कह दिया सर्वधर्म नाम करके सभी धर्मों को क्या क्या कर धर्म को कहा लिखा तो इसमें ढंग से हम कहाँ पहुंच गए धर्म को पहना भी जा सकता है घोड़ा भी जा सकता है निकाला भी जा सकता है अभी जो धर्मांतरण हो रहा है उसका आधार ही धर्मांतरण हो सकता है उसको कौन कहेगा ये तीन बात को अभी सुनाया इतने को सुनाने के बाद धर्मांतरण हो सकता है होता हो जाता है कि नहीं धर्म क्या है धर्मांतरण होने की बात भी नहीं है धर्मांतरण होने की पहले धर्म क्या ये बात तो हमने लिखा है धर्म का शब्द के आगे तो धारणा के धारणा का एक परिभाषा जिससे जिसका विलगीकरण ना हो वही उसका धर्म उसमें जो लिखा है पदार्थावस्था चंचल निर्माण है पदार्थ प्राणावस्था चंचलता एक पुष्टि निर्माण है प्राण जीव तो जीवावस्था अस्तित्व पुष्टि आशा नहीं है और एक मानव जाना ज्ञानावस्था में मानव ज्ञानावस्था अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुखधर्मी सुख तो कैसा होता है सामान्य अनवरात्र नहीं समाधान कैसा मिलता है पता है ज्ञान के अनुरूप फल परिणाम उदय हो चलो कैसा है ये पूछा अखंड समाज को रास्ता विधि से जीने से दूसरा किसी विधि से आएगा ना हम सब पप्पू देखा जब को देखा जब को देखा सब कुछ देखा जीने में ही ना क्या चीज अखंड समाज सब और दूसरा कोई रखना इस रस्ता को हम अच्छी तरह से परिशोधन किया हूं इसमें दाना दाना को छोया हूं चाहता हम छुआ सब कुछ जो करना चाहिए सब कुछ किया उसका अंतिम बात नहीं हम किए बिना कोई प्रमाण जीना कैसा हुआ समझ समझदारी पूर्वक नियंत्रित संवेदना पूर्वक जीना अभी आदर्शवाद ने क्या और किया संवेदनाओं को मार रखा अच्छी तरह से जहर देखिए उसको मर्डर करो मृत्यु को दे ये हमको कहा वो होता नहीं वो होना नहीं उसका कथा है विश्वामित्र वर्षा वर्षायु सबसे खेल के बाद लोग गया में चार कर ऐसा था ये सब कथाओं को सुनने से कैसा लगता है आदमी को केवल माहौल जैसा लगता है ना इसको कहना चाहिए गंभीरता से अपने को सोचने की जरूरत है इसको एक मर्यादा पूर्ण विधि से अपने को निर्वाह करने की जरूरत है ये वही विनय करना ये विनय की भाव यदि ये रुचती है उसके आगे हम चलते हैं तो मूल में हम हमारा जो है ना इसके अध्ययन का भाग होने की बात आती है अभ्यास अभ्यास में क्या होता है बताया अभ्यास में जीना जीने के लिए जीने के लिए अभ्यास करना है अभ्यास के अंतिम छोड़ है अनुभव में नहीं पहले सूचना के शुभ सूचना सर्वशुभ सूचना के आधार पर उसके बाद सर्वशुभ सूचना के अनुभव अधीन में जीना अधीन में जीने की बात अनुभव में तीन स्थितियां जीना ये आयु के अनुसार ये हो सकता है मानव परंपरा में किसी आयु तक सूचना के आधार पर बच्चे जी सकते हैं क्योंकि बच्चे अभिभावक को सही मान के चलते उसके आधार पर भी सकते उसके बाद जैसा युवावस्था होती है उनको अध्ययन पूर्ण होने की जगह में पहुंचाना होता है और अध्ययन में अध्ययन करते हुए कोई भी नहीं उसके बाद गणना अनुभव होती है यह अवस्था के अनुसार चीजें ऐसे योजना के रूप में बनाना चाहिए उसके बाद आता है जब जैसे ही अभ्यास करते हैं हम तीनों विधि से अनुभव में जीना है हम प्रमाण हम प्रमाण में जीना बन प्रमाण में क्या जीना बन गया अखंड समाज सूत्र व्याख्या सार्वभौम व्यवस्था को व्याख्या सर्वम व्यवस्था कुटुंब में जीने से क्या होता है पूछा समाधान समृद्धि पूर्वक जीने परिवार में जीते हैं समाधान समृद्धि अभयता के साथ समाज में जीते हैं समाधान समृद्धि अभय साथ पूर्वक व्यवस्था में ये चारों बात चाहिए कि नहीं चाहिए उसको डिसाइड करिए अपने में निर्णय करिए अपने आगे आगे संतानों को इसकी जरूरत है कि नहीं तो सोचिए यदि ये जरूरत है ये मानव जाति के लिए उपकारी है स्वीकार होता है इसकी स्वीकार के अनुसार जीने किए यदि जगह तक जाते हैं हम सर्वशुभ कार्य में ही रहेंगे सर्वशुभ हमारा शुभ सबके लिए स्वीकार सबका शुभ मेरे अभी क्या हो गया है हमारा किसी को स्वीकार नहीं जो सत्यो जीते हैं वो हमको स्वीकार नहीं क्या होगा क्या एक सोचते इसको सोचना चाहिए अभी इसको देख करके अभी नाम दिया है अभी हम भ्रम में भ्रम का क्या आधार रहा पूछा जीवों के सदृश देने गए जीवों के सदृश देने जाना मानव के लिए भ्रम मानव के में मानव को जीने की व्यवस्था जीव चेतना में मानव को जीने की व्यवस्था नहीं जो व्यवस्था तो बनी नहीं इसीलिए क्या होता है हम जीते हैं आपको स्वीकार है आप और आप सब जीते हैं वो हमको स्वीकार नहीं क्या जिया है जिया जबकि जीव जानवरों को देखने से ऐसा लगता है अपने अपने घर के साथ जी लेते अभी हम कुछ भी नहीं जी पाते अपना जान भी पहचानना है अपना कार्य भी पहचानना है ज्ञान भी पहचानना है व्यवहार भी पहचानना है व्यवस्था भी पहचानना है अपन जी रहे हैं इस ढंग से क्या इसी ढंग से आकर जो कुछ भी होना था मानव के साथ जो भी अनुकरण होना था वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है धरती बीमार धरती बीमार होने के कारण शायद है अपन सब कुछ सदबुद्धि को प्रयोग करेंगे इस उद्देश्य से आपके सम्मुख हम ठीक है इस सदबुद्धि को पहले पाने के लिए विधि वही है पहले संज्ञा निकिता से शुरू होती है ना संवेदना तो होता है सर्वस्वरूपम व्यवस्था में चिंता करता है पर तो सर्वस्वरूपम हमारे जैसा परंपरा को बनाता इतनी ही बात इसके आधार पर आगे की बात यह होता है तो तो अभ्यास का महिमा यही है व्यवस्था में और उसके बाद अनुभव का महिमा जो होती है अखंड समाज साधन व्यवस्था का अनुभव में जीने का महिमा ही यदि उसका महत्व यदि हम पहचान बैठे सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या हमारे परंपरा में हमारे जीने में आता है और अखंड समाज को प्रवेश कर हमारा जीने में ये महिमा अनुभव का महिमा जब उसके बाद आता है अनुभव अनुभवगामी अनुभव एक प्रश्न यदि ऋषु जो है ना बहुत अच्छे ढंग से यह समझ सकते हैं अनुभव मूलक विधि से यदि हम जीते हैं अनुभवगामी पद्धति को हम जा नहीं रखते उसका सिद्धांत यह है सही बात समझ में आएगी बात गलती के लिए अलग से अध्ययन करने की जरूरत है सही चीज समझ में आती तो गलती को अध्ययन करने की जरूरत सही पल अपने में यदि प्रकाशित है गलती अपने आप में ट्रेड हो यह है इसके आधार पर हम अनुभव मूलक विधि से हम जीने का अभ्यास करने की बात की अनुभवगामी कारण से हम अध्ययन करा नहीं होंगे उन पर उनकी बात ही अनुभवगामी पद्धति वही है जो मानव चेतना बोधगम्य हो मैंने ज्ञान विवेक अध्ययन में हो विज्ञान अध्ययन करने हो उसके बाद व्यवस्था अध्ययन करने हो व्यवहार व्यवहार में व्यवहार का नियम अध्ययन करने हो उसके बाद जीना स्वाभाविक हो जैसे भी जो सात बातों में हम नाम दिया इसमें हर व्यक्ति को पारगत होने की जरूरत इसमें एक भी बात छूटती है मनुष्य जीना बरकर एक भी बात छूटती है आदमी जीनेगा और जीता रहे हैं जीने जाना का मतलब है जीने देने के देने देने के बाद ही जीने का प्रमाण हम किसी को जीने नहीं पाते तब हमारा ये महीना बना उसके पहले का नाम वो पता ही नहीं ठीक उसके बारे में भी अपने को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा हम जैसा संतान होते हैं संतान को हम जीने देना चाहते हैं तब चिंता हो रहा है अभिभावकों का प्रतिष्ठा उसी में नहीं कब तक दिखता है बच्चों को जीने देता हुआ दिखता है तब तक अनुमा और उसका प्रतिष्ठा दिखती जिस क्षण से जीने जीने से रिक्त होते उस समय से उनका और का प्रतिष्ठा उसी वक्त मुख्य सूर्यास्त हो जाता इसको हर हर अभिभावक इसको परिशीलन कर सकते हैं सोच सकते हैं समझ सकते हैं आवश्यकता क्या है निर्णय कर सकते अच्छी ढंग से कर सकते हैं इस ढंग से अनुभवगामी पद्धति से हम क्या चलने पर क्या होगा जीने जितना पहले आता है हमारा जीने का प्रमाण होता है ठीक है ठीक है कैसा आता है अनुभवगामी विधि अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति का उसमें जीने से हमारा जीने का प्रमाण होता है इसी प्रकार हर व्यक्ति अपना जीने का प्रमाण प्रस्तुत करना ही संज्ञानिकता का मतलब है ज्ञानावस्था का मतलब है मानव परंपरा का मतलब यदि ऐसा नहीं होता है कभी जो कर रहे हैं वह सब सही है कोई गलती नहीं क्या गलती नहीं है नाश होने के लिए कोई गलती नहीं नाश होने की बारे है कोई गलती नहीं यदि नाश होने से बचना है ये सब गलत होता है जितना हम किए सबका नाम हमारा गलत नाश नहीं होना है गलत हो नाश होना है यह सब कुछ है कोई ऐसा बात करना कभी अपने को सोचना है नाश के लिए हम है अपना भागीदारी निर्वाह करना है या संसार में मानव परंपरा को चलता है रूप में रहने के पक्ष में हमको काम करना है उसको अपने को निर्णय करना है ये जीवन विद्या सारस्ववाद का यही महिमा है इसको निर्णय करने के लिए मानव के लिए कुछ सूचना देता है कुछ संदेश देता है कुछ अध्ययन कराता है इसी इन तीनों भाग में जब कथन कर पाते हैं तब कई लोगों में ऐसा हुआ है कि रहने योग्य मानना चाहिए ऐसे ही अभी तक की बात उसके पक्ष में आप करेंगे अभी तक जितने लोग समझे हैं इसको मानव रहने के लिए सोच रहा है कि धरती पर नाश होने के लिए सोच रहा है तो उसका समय आपका अब है अब अब तीनों कहेंगे